श्रीदक्षिणामूर्तये यत्किञ्चित् वास्तु वस्तु प्रणमतकृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थामृतगणपवनस्पर्शधन्यम् यत्सन्तर्कादरवहारताम् मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्योनिष्प्रशान्तम् परिणति विधुरम् ब्रह्म पूर्णम् लभन्ते पूर्वादलद्युलितनम् करुणाद्यनेत्रम् ीमाम्बरम् वरविभूषणभूषणाङ्गम् किमेव तदेवा विसजातीशम् श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय में मूल रूप से ये बात कही गई कि स्वयं नारायण विष्णु भगवान राम यही जगत के कारण और वेद में वेदा हमेतम पुरुषम महानतम कह करके पुरुष सूत्र जिस महापुरुष का प्रतिपादन करता है विश्वामित्र ने कहा अहम वेदी महात्मानंद तो वेदा अमृतम जो है वह महात्मा है और कश्यप ने अपनी खुशी में सोमन आदि निर्देश कह करके अचिंत्य वैभव और परत्व का प्रतिपादन किया सबसे बड़े और सब देवताओं से बड़े भगवान हैं ये अधिकम मेरे विष्णु ये भी स्पष्ट करें अब अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं और उसमें जितने त्याग किए गुण हैं उन सब गुणों से रहित और अतीत की अनंत कल्याण गुण से युक्त हैं भगवान ये बात बताते हैं पहले कांड में जहां ये बताया कि रामायण के जो नायक हैं वे बड़े उत्तम कुल में पैदा हुए हैं श्रेष्ठ गुरु की कृपा उनको प्राप्त हुई है धनुर्वेद के रहस्य को जानते हैं और ताटका ताटकेय मारिच आदि जो गुण डालने वाले हैं उनका दर्शन करते हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ते हैं परशुराम जी के हाथों से वैष्णव धनुष को ले लेते हैं इन सब विशेषताओं से और सहचारिणी सहधर्मचारिणी श्री सीता जी में संयोग होता है ये सब बात बताए अब अयोध्या कांड में सब भगवान के शेष हैं भगवान के परतंत्र हैं तो शेष निष्ठा लक्ष्मण जी में पारतंत्र निष्ठा भरत जी में और दासानुदास निष्ठा श्री शत्रुघ्न जी में ये सब जो भक्तों के विशेष धर्म है उनका प्रतिपादन कर रहे हैं पहले कांड में परमेश्वर के परत्व का वर्णन है और अयोध्या कांड में सौलभ्य का वर्णन है कि वे कितने बड़े होते हुए भी कितने सुलभ हैं जब भरत जी जाने लगे अपने मामा के घर मामा के साथ लेने के लिए विभाजित आए थे तो वे तो अकेले भरत को लेने के लिए आए लेकिन भरत जी शत्रुघ्न को लवणासुर आदि शत्रुओं को मारने वाले और नित्य शत्रु जो है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन से दुष्पूरेणा न ले साधक के नित्य शत्रु काम क्रोधादि हैं जो मन में रहते हैं उनको इन्होंने नष्ट कर दिया है शत्रु उनके मन में काम क्रोधादि विकार है ही नहीं इसलिए इसको नित्य शत्रु में कहते हैं मार दिया है शत्रु अब वो जाकर के वहाँ अपने मामा के साथ के गए देश में रहने लगे और वे तो अपना बेटा समझ के ही इनका लाड़ प्यार करने लगे वहाँ रह के भी वे स्मरण राम और दशरथ का ही करते थे और दशरथ भी बड़े प्रेम से अपने पुत्रों का स्मरण करते थे दशरथ जी अपने चारों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे और उन चारों में राम जी से उनका प्रेम बहुत अधिक था क्योंकि ये जो भगवान रामचंद्र हैं ये देवताओं की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए मनुष्य लोक में प्रकट हुए हैं ये तो साक्षात विष्णु श्री राम के कारण कौशल्या की बड़ी भारी शोभा हुई ये जो श्री रामचंद्र भगवान है ये कहते हैं यहाँ कुछ गुणों की चर्चा है श्री रामचंद्र के वैसे काव्य शास्त्र का सिद्धांत यह है कि गुणों का केवल उद्देश्य बता देना काफी नहीं होता गिनती करा दें ये गुण है ये गुण है ये गुण है रामचंद्र में तो ये काफी नहीं है वो तो सबके उदाहरण होने चाहिए कि किस प्रसंग में कौन सा गुण प्रकट हुआ है यदि केवल वाचनिक रूप से कह दिया जाता है कि ये बड़े दयालु हैं तो वो काफी नहीं है वो गीत का प्रसंग आने पर मालूम पड़ता है कि उनके हृदय में कितनी दया है तो भाई वो सुशील हैं उनका शील बहुत ही उत्तम कोटि का है पर ये बात ऐसे मालूम नहीं पड़ती जब सबरी का प्रसंग सुनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि वो कितने सुशील है तो केवल प्रतिज्ञा मात्र से गुणों का वर्णन नहीं होता फिर भी यहाँ एक सूची गुणों की दी हुई है और वो इसलिए दी हुई है कि आगे जहाँ जहाँ रामचंद्र के चरित्र में प्रसंग आवे वहाँ समझ लेना चाहिए कि यहाँ किन गुणों का वर्णन है उत्साही रूपोपन्नश्च वीर जवान अनसूय कहा बड़े सुंदर इतने सुंदर है कि सांप और बिच्छू तक उनको देख करके अपना विश्व छोड़ देते हैं जिन्हें निरा की मग सांपिन बीछी सजत विषम विष सामक पीछी इतने सुंदर है और वीर जवान है ये जो शंकर जी का धनुष है उसको तोड़ना मारिच को ही कभी बाढ़ से समुद्र में भेज देना और अनसूय कहा कभी किसी में दोष नहीं देखते हैं रामचंद्र का ये गुण है कि वो किसी में गलती नहीं निकालते हैं उनकी उपमा दुनिया में किसी को नहीं दी जा सकती और अपने पिता से भी श्रेष्ठ है सतु नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम प्रभाषते हमेशा शांत रहते हैं और हमेशा उच्च मानों की परुषम कोई कड़ी बात उनको कह दे तब भी बड़ी कोमलता से बोलते हैं और वाद विवाद में नहीं पड़ते ये नहीं कि इसने ये बात कही तो हम हाथ छोड़ेंगे उत्तर देने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं जिसने कहा और यदि कभी कोई जान में अनजान में कोई थोड़ा सा भी उपकार कर दे तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं कथंचित उपकारेण कृते नैकेण पुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया और कोई हजारों अपकार करे तो उसकी उनको याद ही नहीं आती वो तो ऐसा समझते हैं कि वो तो मैं ही हूँ हमेशा जब जब पांच मिनट का भी दस मिनट का भी मौका मिले तो शील वृद्ध ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध शील ज्ञान वृद्ध ज्ञान वयो वृद्ध वयशील वृद्ध ये तरह तरह से इसका विन्यास कर लेते हैं जो शील में बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं वय में बड़े हैं दो में बड़े हैं तीन में बड़े हैं ऐसे सज्जन पुरुष जो है तो दिन रात उनके साथ लगे रहते थे कि जब मौका मिले तब इनसे कुछ सीख लें उनसे सीखने के लिए उनके साथ रहते थे बुद्धि बड़ी विलक्षण थी मधुर भाषण करते थे और पहले अपनी ओर से ही बोलना शुरू करते थे कोई मिल जाए नया आदमी तो ये नहीं कि वो पहले प्रणाम करे तब बोले की कोई पहचान करावे तब बोले पूर्व तो भाषी और हमेशा प्रिय बोलते थे और अपने बल बीज का उनको कोई अभिमान नहीं था कभी झूठ नहीं बोलते थे वृद्धों का आदर सत्कार करते थे प्रजा उनके प्रति बहुत प्रेम करती थी और वे ही प्रजा के प्रति बहुत प्रेम करते थे हृदय में बड़ी दया थी क्रोध अपने बस में था ब्राह्मण का आदर करते थे दीन के ऊपर उनके मन में कृपा थी धर्म को जानते थे और जैसे घोड़े को लगाम लगा करके उसको अपने काबू में रखा जाता है वैसे रामचंद्र भगवान अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते थे और पवित्रता से उनका प्रेम था जहाँ सनातन धर्म की बात आती वो ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों करें वो ये कहते कि जब हमारे पिता ने पितामा ने ऐसा किया है तो हम ऐसा क्यों न करें कुल बंदी है उनकी बुद्धि कुल की कुल की उचितता जो है उसको पकड़ती थी अपने धर्म का बहुत आदर करते थे दूसरे की कीर्ति बढ़ने से दूसरे की महिमा बढ़ने से अपने को सुखी मानते थे ऐसे काम में कभी नहीं लगते थे जिस जो श्रेयस्कर न हो और इतना विरुद्ध कथारूपी एक आदमी एक बात कही तो उसके विरुद्ध बोलने का अभ्यास नहीं था उसमें रुचि नहीं थी एक ने कही कही यदि कोई कहने वाले की हानि न हो या सुनने वाले की हानि न हो तो हर बात का विरोध करने की जरूरत नहीं है किसी ने कहा कि पांच बज के उनसठ मिनट हो गए हैं और तो दूसरे का नहीं नहीं छह बज गए अब वो एक मिनट के लिए दूसरे की बात का विरोध करना जो है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है न विरुद्ध कथा रुचि और जब आपस में वाद विवाद हो गए तो एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा बृहस्पति के समान उनको सूझती है उनके शरीर में कोई रोग नहीं है अवस्था कर्म है बड़े वाग्मी हैं वक्ता बड़े हैं शरीर बड़ा सुडौल है और किस स्थान में किस समय पर क्या करना चाहिए इसको समझते हैं किसमें कितना बल है ये उनको मालूम है उनके समान साधु तो वही है इस तरह से श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे भगवान श्री रामचंद्र और ये तो जैसे राजा दशरथ के बहिष्कर प्राण थे बहिष्कर माने एक सांस तो वो होते है जो शरीर के भीतर चलती है ये दूसरी सांस है दशरथ के जो बाहर चलते हैं और जैसे श्वास के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता वैसे राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रह सकते वहां भांति उन्होंने विद्या गुरुमुख से पढ़ी है और ब्रह्मचर्य व्रत के स्नातक हैं सांग वेद के वेदता है और ईश्वर श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो धनुर्वेद में वो अपने पिता दशरथ जी से भी बहुत श्रेष्ठ हैं उनके आसपास हमेशा कल्याण लोग रहते थे और वो कभी दीन नहीं होते थे सच बोलते थे और सरलता से बात करते थे कपट से बात नहीं करते थे जहाँ बातचीत में कपट का प्रवेश हुआ का वहाँ प्रीति सूख जाती है जहाँ कपट आया वहाँ विश्वास नष्ट हो जाता है और विश्वास जब नष्ट होता है तो प्रेम तो रहता ही नहीं क्योंकि प्रेम का बाप विश्वास है और कपट होता ही इसलिए है कि विश्वास में कमी है और बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे बड़ा विनय हो और धर्मार्थदर्शी ब्राह्मण हमेशा उनके साथ रहते वो केवल धर्म को ही समझते हैं वो बात नहीं कहाँ कैसे भोग करना चाहिए और कहाँ कैसे धन कमाना चाहिए कहाँ कैसे धर्म करना चाहिए सबको समझते हैं और ये नहीं कि जानते तो सब है पर याद नहीं आती है समय पर याद आ जाती है और जब सुनी हुई देखी हुई बात नहीं भी हो तब भी उनको सुरना हो जाती है समय पर और ये लौकिक जो समय आचार है उसमें भी निपुण है और ऐसे ढंग से रहते हैं कि उनके आकार से उनके मन का भाव प्रकट न हो सम्रता का रहा ये नहीं कि मन में क्रोध आ गया तो देखने वाले को भी मालूम पड़ गया कि हाँ क्रोध आ गया मन में काम आ गया तो मालूम पड़ गया कि काम आ गया कर नहीं अपने मन में जो काम करने की इच्छा होती थी वो उनके सकल से पैदा नहीं होती थी निवृता आकार गुप्ती उनका एक विशेष गुण था और जो करना होता था वो जब कर चुकते थे सब लोगों को मालूम पड़ता था उनके सहायक बहुत थे और उनका क्रोध और हर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता माने जिसके ऊपर खुश होते उसको कुछ देते थे कोई खुश हो और उसकी सेवा न करे तो उसकी खुशी बेकार गई और जिसके ऊपर क्रोध करते थे उसको दंड देते थे जुर्माना करते थे नहीं तो वो क्रोध व्यर्थ गया तो वो व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ का हर्ष नहीं करते थे और कब मनुष्य को संयम करना चाहिए और कब त्याग करना चाहिए ये वो जानते थे उनकी भक्ति दृढ़ थी प्रज्ञा स्थिर थी और बुराई को पकड़ के नहीं रखते थे जिद्दी नहीं थे आलसी नहीं थे कभी प्रमाद नहीं करते थे और वो दोषों को भी समझते थे कि अपने अंदर क्या रहे तो दोष है और दूसरे में क्या रहे तो दोष है शास्त्रज्ञ थे कृतज्ञ थे और आदमी की शकल देखते ही समझ जाते थे कि इसके भीतर क्या है कब उसको ग्रहण करना चाहिए कब उस पर अनुग्रह करना चाहिए न्याय करने में बड़े निपुण थे और सत्पुरुषों के अच्छे आदमी को जब देखते उनको पहचान लेते तो उनको अपने पास रखने की कोशिश करते और कहा मनुष्य को दंड देना चाहिए इसको समझते थे और धन की आमदनी कैसे बढ़े उसका उपाय जानते थे और कहाँ कब खर्च करने में कृपणता नहीं करनी चाहिए इस बात को भी वे समझते थे और शास्त्र ज्ञान में बड़े ही श्रेष्ठ थे और नाटक कर्म में भी बड़े निपुण थे अर्थ और धर्म दोनों का संग्रह करके सुखी होते थे वे आलसी नहीं थे क्योंकि जिसके मन में आलस्य होगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता आलसी आदमी को काम करने में स्वाद नहीं आता है वो अपना रस अपना स्वाद अलग रख करके काम करता है इसलिए काम उसके लिए बोझ हो जाता है वे कारीगरी के भी सब कामों को और काम शास्त्र संबंधी सब विद्याओं को भी वो जानते थे और बड़े बड़े जो हाथी हैं घोड़े हैं उनके ऊपर चढ़ना उनको काबू में रखना धनुर्विद्या का प्रयोग करना अतिरथी थे श्री रामचंद्र वो दूसरों पर चढ़ाई कर सकते थे प्रहार कर सकते थे सेना की रीति नीति को अच्छी तरह समझते थे उनको युद्ध भूमि में कोई पराजित नहीं कर सकता था देवता दैत्य उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे किसी में कोई दोष न निकालना क्रोध को बस में रखना अभिमान न करना मद मत्सर से अलग रहना और किसी का अपमान होवे नचाओ बनता भूता नाम नच काल बसानुगा किसी प्राणी का अपमान नहीं करते थे रामचंद्र भगवान और ये नहीं कि जैसी बह बह बयार बीट कुंड तैसी कीजे लोगों की हवा देख करके उसमें बह जाते हैं वो सो बात नहीं विचार करके सब काम करते थे इस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त रामचंद्र थे और पृथ्वी में जैसी वैसी क्षमा असल में तत्व से मिलने के लिए जो ब्रह्म से एक होना चाहता है चाहता है परमात्मा से उसको पहले पृथ्वी से एक होकर क्षमा करना पड़ता है उसको जल से एक होकर के सबको स्वाद देना पड़ता है उसको अग्नि से होकर के अप्रदृश्य अग्नि से एक होकर के और वायु के समान उसका सब प्राण सर्वत्र गति उसकी होनी चाहिए आकाश के समान वो सबको धारण करने वाला होना चाहिए जब ब्रह्म एक तत्व है वो कोई कल्पना नहीं है वो कोई भाव नहीं है तो जिन ठोस तत्वों से जैसे जैसे तादाद में होता जाता है एकता होती जाती है वैसे वैसे इन तत्वों के गुण जीवन में आते जाते हैं बुद्धि में वो बृहस्पति के समान थे वीर में इंद्र के समान थे और सब प्रकार से अपने पिता को वो प्रसन्न करते थे उनको ये मालूम था कि उनके पिता कैसे प्रसन्न होते हैं तो उनको मालूम था कि जब प्रजा प्रसन्न होगी तब हमारे पिता प्रसन्न होंगे इसलिए प्रजा की सेवा करके वे अपने पिता को प्रसन्न करते थे उनके गुण जो है वो जगमग जगमग जगमगाते रहते थे ऐसे सदगुण संपन्न भगवान श्री रामचंद्र को पृथ्वी स्वयं चाहने लगी कि ये हमारे स्वामी हो जाएं लोक बालो पमम नाथम अकामयत वेदिनी स्वयं वेदिनी चाहने लगी कि ये हमारे स्वामी ये हमारे पति ये हमारे राजा बने तो बोले भाई पृथ्वी कैसे चाहती है पृथ्वी तो जड़ है उसमें इच्छा का उदय कैसे होगा तो धर्मात्मा लोग कहते हैं कि पृथ्वी देवता है उसके मन में भी इच्छा होती है और लौकिक दृष्टि से पृथ्वी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य सब के सब सारी जनता सारी प्रजा चाहने लगी कि राम हमारे स्वामी हो बड़े बड़े गुण महाराज अब राजा दशरथ ये देख रहे थे कि इतने गुण संपन्न हमारे राम हैं तो अब उनके मन में एक चिंता हुई एक इच्छा हुई कि मेरे जीवित रहते ही राम राजा हो जाए ये कैसे हो सकता है बस हमारे हृदय में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि कदा नाम सुतम रक्ष्याम अभिषिक्तम हम प्रियम अपने प्यारे बेटे को कब मैं राज्याभिषेक से युक्त देखूंगा ये सबकी वृद्धि चाहता है हमारा बेटा जो है ये सबकी वृद्धि चाहता है सबकी भलाई चाहता है और हमसे लोग जितना प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा हमारे बेटे से प्रेम करते हैं ये बड़े बड़े देवता भी इसकी मुकाबला इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसका सामना नहीं कर सकते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा ये पुत्र सारी पृथ्वी का पालन पोषण कर रहा है तो ये सारी बातें उनके मन में आने लगी अब एक दिन मर ऐसा निश्चय करके अपने मन में पहले उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया उसके बाद अपने मंत्रियों को बुलाया पहले राजा को चाहिए कि वो अपनी बुद्धि से उचित अनुचित का निश्चय कर ले ये नहीं कि मंत्रियों से कोई बात कही और उन्होंने पट काट दिया कि ये ठीक नहीं है इसमें ये उचित है ये अनुचित है पहले अपने मन में सोच ले सब मंत्रियों से बात करे फिर मंत्रियों से उन्होंने सलाह की पहले लोक में प्रसिद्ध नहीं किया मंत्रियों के सामने पहले बात आई इससे मंत्रियों का आदर हो गया सबकी राय यही हुई कि रामचंद्र को युवराज बना दिया जाए देखा दशरथ ने कि धरती में और आकाश में कुछ उत्पाद हो रहे हैं और शरीर में भी ऐसी निर्बलता आ रही है बुढ़ापा प्रविष्ट हो गई है तो इसलिए पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले रामचंद्र को अब राजा बना दिया जाए इसी में अपना भी कल्याण है और प्रजा का भी कल्याण है श्रेय से श्रेय से चापी इसी में सबका श्रेय भी है और इसी में सबका प्रेय भी है जो लोग केवल मोक्ष पुरुषार्थ चाहते हैं वे केवल श्रेय श्रेय श्रेय चाहते हैं और जिनको संसार में भी सुख चाहिए उनको तो श्रेय और प्रेय दोनों ही पदार्थ चाहिए है तो जब ये मोक्ष चाहने वाले केवल संसार में धर्म का उपदेश करने लगते हैं तब ये लोग गड़बड़ा देते हैं असल में मनुष्य को धर्म भी चाहिए अर्थ भी चाहिए काम भी चाहिए केवल मोक्ष का नाम सुन करके लोग व्याकुल हो जाते हैं सो धर्मात्मा दशरथ के मन में कुछ त्वरा हुई उन्होंने देश विदेश में रहने वाले नाना नगर में रहने वाले राजाओं को तुरंत आमंत्रित किया केवल दो राजा नहीं बुलाए गए एक तो केक देश के राजा और एक राजा जनक और सब लोगों को बुला लिया तो कैसे बुलाया इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया पश्चात तव श्रोष्यत प्रियम उनसे विरोध की तो कोई आशंका है नहीं जब वे लोग सुनेंगे तब बहुत प्रसन्न होंगे कि राजा दशरथ ने बहुत बढ़िया काम किया सो इसके बाद राजा ने सब लोगों को वहाँ बुला लिया और सब लोग आए बड़ी सारी परिषद जुड़ी सारी सभा के बीच में राजा दशरथ ने गंभीर वाणी से तुम दुभिस्वर कल्पेन गंभीरेणानुनादिना जैसे भी बज रही हो ऐसी दशरथ की आवाज थी और मेघ ध्वनि के समान गंभीर थी और उसका उसकी प्रतिध्वनि भी होती थी सो तो उन्होंने रसयुक्त राज लक्षण राजा जैसे बोलता है ऐसे बोले और बड़ा कांत शब्दावली बड़ी प्यारी और बड़ा अनुपम और उनके स्वर में रस उन्होंने सबके सामने दशरथ ने निवेदन किया आप सब लोगों को ये पहले से अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने इस राज्य का संचालन कितने उत्तम ढंग से किया है सुतवत परिपालितम जैसे कोई अपने बेटे की रक्षा करे वैसे हमारे पूर्वजों ने इस राज्य की रक्षा की है मैं इस राज्य को और भी उत्तम बनाना चाहता हूँ मैंने भी अपने पूर्वजों के समान आचरण किया है और यथाशक्ति मैं अनित्र रहा हूँ अर्थात हमेशा सावधान रह करके मैंने प्रजा की रक्षा की है ये हमारा शरीर श्वेत छत्र के नीचे रहते रहते अब बुढ़ा हो गया है हजारों वर्ष तक मैंने इसका राज्य किया है अब ये राज्य का भार धोते धोते मैं थक गया हूँ सो मैं प्रजा के हित के लिए अपने पुत्र को नियुक्त करके विश्राम चाहता हूँ आप सब लोग इसको अनुमति दें इसके लिए ये मेरे जो बड़े पुत्र हैं रामचंद्र ये केवल अवस्था में ही सब पुत्रों से बड़े नहीं हैं ये गुणों में भी सबसे बड़े हैं ये इंद्र के समान चंद्रमा के समान आह्लादाता और वीरजमान हैं मैं चाहता हूँ कि इन्हें राजा बनाया जाए सो ये प्रजा के सर्वथा अनुरूप हैं और ये त्रिलोकी का भी शासन कर सकते हैं केवल पृथ्वी की तो बात ही क्या तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फुल पृथ्वी का के पालन का भार इनके ऊपर डाल करके मैं निश्चिंत हो जाऊं ये मेरी बुद्धि से बड़ा अनुरूप अर्थ है मैंने सचिवों से भी मंत्रणा की है आप सब राजाओं की इच्छा हो तो ये काम किया जाए और प्रजा की इच्छा हो तब ये काम किया जाए भवन सोमेनुमंजनताम कथम बा करवाण्यम दशरथ ने कहा कि आप लोग ये काम करने की स्वीकृति दीजिए और यदि आप लोगों को हमारा ये विचार स्वीकार न हो तो सलाह दीजिए कि हम दूसरा क्या करें कथम्बा करवाण्यम आप लोगों की सलाह मैं मानूंगा यद्यपि मेरे मन की प्रसन्नता इसी में है फिर भी यदि आप लोग चिंतन करके कोई उपाय बतावेंगे तो मैं उसको जरूर मानूंगा अन्य मध्यस्थ चिंता ही विमर्दा व्यधिक हो गया मनुष्य के मन में कभी कभी राग द्वेष के कारण कोई संकल्प उदय होते हैं तो जब मध्यस्थ पुरुष के सामने उसको रख दिया जाता है तब वो उसका ठीक ठीक निर्णय दे सकता है हमारे मन में तो रागत द्वेष भी हो सकता है परंतु आप लोगों के मन में तो किसी से रागत द्वेष नहीं है इसलिए इस बात का ठीक ठीक निर्णय कर देंगे क्योंकि जो तर्क वितर्क या वाद विवाद या चिंतन होता है वो राग द्वेष रहित पुरुष का ही शुद्ध होता है अब तो सब लोग बड़े खुश हुए महाराज उस सभा में जितने थे स्नेह से हर्ष से भरे हुए बड़ी सुंदर ध्वनि नारे लगने लग गए रामचंद्र के पक्ष में और ब्राह्मण और पौर और जितने लोग थे समतांगत यहाँ जिनकी बुद्धि पहले से ही राम में भरत में और प्रजा के रक्षण में सम थी उन सब समतांगत बुद्धया उन समदर्शी लोगों ने दशरथ जी से कहा राजन आप वृद्ध हो गए हैं अब राम को जुमराजा बना दीजिए इसीलिए नहीं आगे ये बात कहते हैं कि सिर्फ इसलिए हम लोग ये बात नहीं कहते हैं कि आप बुढ़े हो गए हैं या आशक्त हो गए हैं या राम श्रेष्ठ हैं इसलिए बना दीजिए हमारे मन में तो एक इच्छा है महाराज असल में हम लोग चाहते हैं कि इच्छा ही महाबाहु रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम हमारे मन में एक अभिलाषा है कि महाबाहु महाबली रघुवीर श्री रामचंद्र को हम लोग हाथी पर चढ़े हुए और उनके ऊपर छत्र लगा हुआ इस रूप में उनका दर्शन करके अपने आप को कृतकृत करें हमारे मन में तो ये शोभा विशेष ये खास तरह की शोभा देखने की इच्छा है अब तो राजा को भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्नता हुई लेकिन उन लोगों के मन में क्या है इस बात को ठीक ठीक समझने के लिए अनजान तरीके बन गए अजानन निवजित्यासु इदम वचन अब्रवीत अनजान से होकर लोगों के मन का भाव जानने के लिए बोले देखो भाई हमारे मन में एक प्रश्न उदय हुआ है दशरथ ने कहा मैंने कहा कि राम को युवराज बना दिया जाए और तुम लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये युवराज बना दिए जाए तो मेरे मन में एक संशय का उदय हुआ है वो संशय ये है कि मैं धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन कर, कर रहा हूँ मेरे शासन में कोई गलती तो नहीं है मेरी उस गलती को दूर करने के लिए आप लोग रामचंद्र को युवराज के रूप में देखना चाहते हैं सो बोले नहीं महाराज आपके ये जो पुत्र हैं इनके अंदर तो बड़े बड़े गुण हैं गुणान गुणो तो देवो देव कल्पस्य ये तो तुम्हारे बुद्धिमान पुत्र केवल गुणवान ही नहीं है साक्षात देवता है इनके गुण प्यारे हैं मनुष्य को अपनी दृष्टि से स्वयं में प्यार नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले इस ढंग से रहना चाहिए इनके गुण प्यारे हैं आनंद देने वाले हैं आप हमारे मुंह से थोड़ी सी बात सुनिए ये दिव्य गुणों में इंद्र के समान है इनका पराक्रम सत्य है और हम लोगों का कहना यह है सर्वे की सर्वेभ्यो व्यतिरिक्त विषाम पते आज तक इक्ष्वाकु वंश में जितने राजा हुए हैं उन सबसे श्रेष्ठ हैं ये ये सत्य परायण सत्पुरुष हैं धर्म रामचंद्र को पाकर संतुष्ट हो गया है अर्थ भी रामचंद्र को पाकर संतुष्ट हो गया है स्वयं लक्ष्मी इनकी सेवा में है ये चंद्रमा के समान प्रजा को सुख देते हैं पृथ्वी के समान क्षमा करते हैं बृहस्पति के समान बुद्धिमान है इंद्र के समान बीजवान है धर्मा के सत्य संत शीलवान अनसूयु क्षमावान सांत्वयिता बड़े सुलक्षण कृतज्ञ विजित इंद्रिय है इतने शीलवान हैं कि अपने बड़प्पन को भूलकर जाकर छोटे लोगों से मिल जाते हैं उनसे बात करते हैं इनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है शांत क्षमावान है और आश्रित के अपराध को सहन करते हैं न केवल अपराधियों के अपराध को सहन करते हैं बल्कि क्रोधी और दुखी प्राणियों को सांत्वना देते हैं और लक्षण समौ लक्षण प्रियम बदौ हमेशा प्यारा बोलते हैं इनका स्वभाव बड़ा कोमल है और निश्चय बड़ा दृढ़ है ये परस्पर विरोधी गुण है जिसका स्वभाव कोमल होता है वो झट बदल जाता है लेकिन इनका निश्चय दृढ़ है और सदा कल्याण कामी है ये प्रियवादी हैं सत्यवादी हैं बहुश्रुत वृद्ध ब्राह्मणों के उपासक हैं इनकी अतुल कीर्ति और यश बढ़ रही है देवता और मनुष्य और असुरों में इनके समान सर्वाष्ट्र विशारद और कोई नहीं है ये विद्या प्रतस्नात है सांग वेद वित है और गांधर्व विद्या में भी बड़े निपुण हैं श्री रामचंद्र जी के समान गाना बजाना दुनिया में और कोई नहीं जानता गांधर्वेद विश्रेष्ठ बभू भरताग्रजा इनके आसपास हमेशा कल्याण युक्त मनुष्य निवास करते हैं ये साधु हैं दैन्य नहीं है महाबुद्धि है और अब ब्राह्मण लोगों ने इनको ठीक रास्ते पर चला करके विनयी बनाया है अपने आप जो विनयी बनता है उसको अपने विनयी बने का अभिमान होता है कि देखो हम स्वयं में कितने विनयी है लेकिन इनको तो विद्वानों ने विनयी विनयी बनाया है और धर्म और अर्थ में बड़े निपुण हैं जिस समय ये युद्ध भूमि में जाते हैं और लक्ष्मण जी के साथ साथ जाते हैं ये बिना विजय प्राप्त किए लौटते नहीं हैं और आ करके जब विजय करके लौटते हैं तो ये नहीं कि अपने बड़प्पन में फूल करके घर में बंद हो जाएं ये हाथी पर रथ पर चढ़ करके सारे नगर में घूमते हैं और जैसे अपने लोगों से कुशल मंगल पूछा जाता है घर के लोगों से ऐसे ही पराये लोगों से भी पूछते हैं पुत्र पत्नी शिष्य ये सब के साथ जो है पिता जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करते हैं और महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे शिष्य तुम्हारी ठीक ठीक सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं तुम्हारे पुत्र पिता से पूछते हैं तुम्हारी सेवा ठीक ठीक करते हैं इस प्रकार रामचंद्र जो है वो किसी को दुखी देख लेते हैं तो स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं व्यसने सुमनुष्याणाम वृषम भवती दुखिता उत्सवेशु सर्वेशु पितेव परितुष्यते जब किसी को कोई दुख होता है तो भगवान रामचंद्र उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हाय हाय मेरे जिंदा रहते और ये आदमी दुखी क्यों हो गया अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हमारी गलती से ये दुखी हुआ है ये नहीं कि दुख का जिम्मा उसके ऊपर डाल दें कि इसने ये गलती की इसलिए दुख हुआ इसने ये गलती की इसलिए दुख हुआ एक और तो बेचारे को दुख हुआ और दूसरे गलती की जिम्मेवारी भी उसके ऊपर डाल दी जाए रामचंद्र ऐसा नहीं करते कहते नहीं नहीं इसका तो कोई दोष नहीं है दोष तो ये मेरा है कि इसको दुख हुआ है और किसी के घर में कोई सुख हो तो जैसे पुत्र के घर में सुख आने पर पिता संतुष्ट होता है ऐसे रामचंद्र संतुष्ट होते हैं सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध देवी जितेन्द्रिया वृद्ध पुरुषों की सेवा करते हैं और उनकी इंद्रियां उनके बस में हैं स्मित पूर्वाभिभाषी जो धर्मम सर्वात्मनाश्रिता मुस्कुराकर सबसे पहले बोलते हैं और धर्म को कभी नहीं छोड़ते अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने धर्म की सेवा में लगा दिया है सम्यक जो योगता चो श्रेयसाम सम्यक योगता श्रेयसाम चो जैसे मनुष्यों का कल्याण हो वैसा करते हैं न बिगड़ कथा रुचि तो किसी से बात करते समय हमारा इसका मतभेद हो जाए ये कोशिश नहीं करते हैं न बिगड़ कथा रुचि वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा इसका मत मिले न बिगड़ कथा रुचि जहाँ तक हो सके अपने मतभेद को हमको एक महात्मा ने एक बार बताया था असल में हम लोगों का जितना मिलता है आजकल जब आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसे करते हैं न्याय की ये बात शांत नहीं मानता है शांत की ये बात न्याय नहीं न्याय शांत की ये बात वेदांत नहीं मानता है और इस तरह की बातचीत करना तुम छोड़ दो समझने के लिए वो ठीक है लेकिन बातचीत ही छोड़ दो तुम ये कहो कि न्याय की ये बात शांत को भी मान्य है शांत की ये बात न्याय को भी मान्य है और शांत न्याय की ये बात वेदांत को भी मान्य है उनमें केवल मतभेद ही तो नहीं है ना मेरे मेल मिलाप भी के भी तो बहुत है ना तो इनसे उससे ये मतभेद है इसकी चर्चा करने से मन बिगड़ता है और विरोधी पार्टियों की चर्चा करनी हो तो उसमें भी देखो प्रजा की भलाई सब चाहते हैं राष्ट्र की उन्नति सब चाहते हैं आर्थिक उन्नति सब चाहते हैं शैक्षणिक उन्नति सब चाहते हैं तो जो उनमें अच्छाई है उसकी चर्चा करना चाहिए जो उनमें बुराई है उसको छोड़ देना चाहिए न विगृह कथा रुचि किसी के साथ विग्रह नहीं बनाना चाहिए बातचीत में भी झूठ मूठ का भी विग्रह नहीं बनाना चाहिए और जब किसी पदार्थ का निर्णय करना हो तो एक बात निकली फिर उस पर एक प्रश्न उठा फिर उसका समाधान निकला फिर उस पर एक प्रश्न उठा फिर उसका समाधान निकला सभी जितने प्रश्न उठे उनके समाधान की योग्यता होनी चाहिए कैसी तो बढ़िया भाव है और कैसी नारी आंखें हैं ये बड़े राम है राम नारायण प्रजा पालन के रहस्य को जानते हैं और कभी राग द्वेष के अपना पराया जो अपने अनुकूल हो का उसकी गंदी चीज भी अच्छी लगती है और जो अपने प्रतिकूल हो चीज भी बुरी लगती है ये क्यों होता है का ये राग द्वेष होने के कारण होता है रामचंद्र के मन में राग द्वेष बिल्कुल नहीं है वो सारी त्रिलोकी का अकेले उपभोग कर सकते हैं उनका क्रोध और प्रसाद निरर्थक नहीं होता है बद्ध को मारते हैं और जो अबद्ध है उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करते हैं जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको बहुत कुछ देते हैं शांत रहते हैं सबको आनंद देते हैं ये रामचंद्र में गुण इतने गुण हैं इतने गुण हैं कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे गुण संपन्न है संपन्न है राम लोकपाल के समान सो तो सारी पृथ्वी अब इनको अपने पति के रूप में चाहती है जो आंतरिक हैं और जो अंतरंग हैं और जो बहिरंग हैं जो नगर के हैं जो देहात के हैं और जो स्त्री हैं वृद्ध हैं तरुणी हैं वे सब सायकाल मनाती हैं भगवान से कि हे भगवान हम अपनी आंख से राम को राजा के रूप में देखें सो आप कृपा करके इंदी श्याम श्री रामचंद्र को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दीजिए इस तरह से महाराज हाथ जोड़ जोड़ करके उस सभा में जो प्रजा है वो दशरथ से प्रार्थना करने लगी राजा ने कहा अच्छी बात है मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्यों कि मेरे पुत्र को तुम लोग युवराज बनाना चाहते हो अन्यत्र जय मन विच्छेद उत्तराधिच्छेद पराजय हो दूसरे को जीतना होता है लेकिन बेटे से तो जब बाप हार जाता है कि गुणों में हमारा बेटा सबसे श्रेष्ठ है विद्या में बुद्धि में गुण में तो अपने बेटे की उन्नति देख करके बाप को बड़ी खुशी होती है अब तो उन्होंने सबका स्वागत सत्कार किया और बात सबके सामने उन्होंने कहा कि देखो ये चैत्र का तो महीना है और इसमें वन सब बड़े पुष्प फूल से खिले हुए हैं हम समझते हैं कि ये जो बसंत ऋतु है का ये राम के जुबराज बनाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है अब तो चारों ओर से ध्वनि होने लगी जय हो जय हो महाराज की जय हो सब राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि अब आप जो उचित हो इस समय राम के राज्याभिषेक के लिए वो सब कीजिए सो वशिष्ठ जी महाराज ने सब लोगों को आदेश दिया कि कितना सोना चाहिए इसके लिए कितने हीरे चाहिए कैसे कैसे वस्त्र चाहिए मधु चाहिए घी चाहिए और राज्याभिषेक के लिए चाम और व्यजन ये सब ध्वज छत्र ये सब जितनी सामग्री चाहिए सबका उन्होंने आदेश दे दिया और कह दिया मंत्रियों से कि ब्राह्मणों को आमंत्रित करो राजाओं को आमंत्रित करो सब सामग्री जो है हाँ, वो इकट्ठी करो किसी भी चीज की कमी न रहे और सेना तैयार हो जाए और हाँ, सबकी रक्षा की व्यवस्था कर दी जाए ये इस तरह से आदेश दिया वशिष्ठ जी ने उसके बाद राजा ने सुमंत्र को बुलाया और बोले कि तुम जा करके रामचंद्र को तुरंत यहाँ बुला करके ले आओ जैसी आज्ञा महाराज ऐसा कह करके सुमंत्र रामचंद्र के पास गए अब वो तो चले गए बुलाने के लिए और इधर राजा दशरथ के पास जितने राजा हैं प्राच्य पूर्व देश के राजा उदीच्य उत्तर देश के राजा प्रतीच्य पश्चिम देश के राजा दक्षिण देश के राजा और म्लेच्छ देश के राजा और म्लेच्छों के जो आचार्य है म्लेच्छाचार्यार्थ ने वन वासी राजकाज हाँ। में ये नहीं देखना चाहिए कि इनकी जाति ये है कि ये पराये देश के हैं कि ये मलेच्छ हैं राजकाज बिल्कुल ठीक ढंग से चलाना चाहिए यहाँ तक कि जो वनवासी हैं वे बुलाए गए जो शैलवासी हैं वन शैलांतवासी मलेच्छाचार्यो अपने मन में किसी प्रकार की का छोटापन नहीं रखना चाहिए मलेच्छाचार्य भी बुलाए गए बड़े बड़े मौलवी लोग जैसे बुलाए गए पादरी लोग बुलाए गए ये जान ले अब उस समय तो मौलवी पादरी थे नहीं जो उस समय की व्यवस्था में मलेच्छ होंगे आज हाँ, वो सब बुलाए गए वनवासी शैलवासी सब के सब महाराज दशरथ जी उनके बीच में बड़े शोभायमान हुए जैसे गंधर्व राजा हो अब नारायण सब लोग देखें चंद्रकांता ननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम चंद्रकांता ननम मैंने ये हमारे मामा थे पंडित चंद्रधर शास्त्री उनका नाम था मामा लगते थे सभी मामा नहीं वो काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे संस्कृत के साहित्य के तो वो गाते थे वो बीणा लेकर के बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाना होता जब अपने घर में तो पहले बीणा लेकर के वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को गाते थे और फिर पढ़ाते थे ये चंद्रकांता ननम रामम इस पद को मैंने न जाने कितने राग रागिनी में गाते हुए सुना है और शब्द इतना ही है चंद्रकांता ननम रामम सो महाराज रूप उदारता उनकी ऐसी कि सबकी नजर खींच ले सब लोग महाराज रामचंद्र को आते समय बड़े प्रेम से देखें सुमंत्र जी ले आए रामचंद्र को और उनको हाथ दे करके वो रथ से उतारा अब वो पिता के पास गए और वहाँ जाकर अपना नाम बताया मैं आपका पुत्र राम हूँ और ऐसा कह करके उनके चरणों की वंदना की और झट दशरथ जी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके अपने हृदय से उनको लगा लिया और राम के लिए उचित ऊंचा आसन दिया उन्होंने रामचंद्र स्वयं बैठ गए अब सब लोग रामचंद्र को उस आसन पर बैठे देख करके बहुत प्रसन्न हुए तो राजा दशरथ ने रामचंद्र से कहा कि तुम मेरी बड़ी पत्नी कौशल्या से पैदा हुए हो और वो मेरे सदृश है और उसके भी तुम सदृश पुत्र उत्पन्न हुए हो गुणों में श्रेष्ठ हो और राम स्वगुण अनुरंजिता अपने गुणों के रंग में तुमने प्रजा को रंग दिया है इसलिए पुष्य नक्षत्र में जब पुष्य पर चंद्रमा आते हैं तो तुम युवराज बन जाओ और प्रसारी की सारी प्रजा ऐसी चाहती है सो आ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत प्रीति है और सारी प्रजा तुमसे प्रीति करती है जिसके अंदर गुण होते हैं उसके ऊपर प्रजा जो है वो प्रसन्न होती है इस तरह से रामचंद्र को भी उन्होंने उपदेश दिया और फिर उन्होंने तरह तरह के दान करने का आदेश दिया सोना दो गाय दो रत्न दो और जा करके आज रात भर तुम कैसे रहो वो सब उनको बताया जब राजा लोग चले गए और दशरथ जी ने ध्यान दिया कि कल ही पुष्य नक्षत्र है स्व एव पुष्यो भविता शोभिते चेत्यस्तु में सुता रामो राजीवता राक्षो जौवराज्य प्रभु उन्होंने कहा कल ही पुष्य नक्षत्र है चैत्र का महीना पुष्य नक्षत्र वो दशरथ राजा अपने महल में प्रविष्ट हुए और महल में जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि रामचंद्र को बुला करके यहाँ ले आओ पहले तो सभा में बुलाया था और बाद में उनको महल में बुलाया अब रामचंद्र भगवान फिर से वहाँ आए राम ने आकर के प्रणाम किया और बोले महाराज मेरा क्या काम है सो तो दशरथ जी ने कहा कि राम मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ मेरी आयु बड़ी लंबी हो गई है मैंने बड़े बड़े भोग भोगे हैं और बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और तुम्हारे जैसा मेरे बेटा हुआ है अब मुझे और क्या चाहिए दान किया यज्ञ किया अध्ययन किया और जो कुछ हमको सुख चाहिए थे सो सब भोग लिया अब मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ उस पर उसका तुम ध्यान करना आज सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है इसलिए मैं तुमको युवराज बना रहा हूँ लेकिन इसके साथ साथ एक बात है कि मुझे रात में सपने में बड़े बड़े अशुभ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्होंने वर्णन किया बिजली गिरती है हमारे स्वप्न में और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं इससे मालूम होता है कि इसमें कुछ अनिष्ट भी होगा इसमें ये जो अतगुण हो रहा है इसका फल ये है कि या तो राजा मर जाए या तो उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आवे इसलिए रामचंद्र देर नहीं करना जब तक ये हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर नहीं चला जाता तभी तक तुम अपने को युवराज के पद पर बैठा लो सो आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर के पहले पुनर्वसु नक्षत्र पर आ गए हैं और कल पुष्य नक्षत्र पर आएंगे सो पुष्य नक्षत्र में ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए ऐसा मेरा मन कहता है सो मैं कल ही तुम्हारा अभिषेक करूंगा तो आज तुम नियतात्मा होकर अपनी पत्नी के साथ कुछ संज्ञा पर ब्रह्मचर्य से और कुछ संज्ञा पर एक साथ रहना और तुम्हारे जो मित्र हैं वो तुम्हारी रक्षा करें और सावधान रहें बिल्कुल क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं उसमें विघ्न भी बहुत आते हैं श्रेयांशी बहु विघ्नाने अच्छे काम में बड़े बड़े विघ्न आते हैं इसके बाद दशरथ जी ने रामचंद्र से एक बात कही है उस पर लोग बहुत ध्यान देते हैं दशरथ जी ने कहा कि विप्रोषित भरतो जावदेव पुरादिता तावदेवाभिषेक से प्राप्त कालो मतो मम जब तक भरत जी अयोध्या नगरी से बाहर हैं दूसरे देश में गए हैं तभी तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए यही समय सबसे बढ़िया है ऐसी मेरी राय है मैं मानता हूँ दशरथ जी ने कहा कामम खनु सकाम वृत्ते भ्राता भरत अत्यता मैं मानता हूँ कि भरत सत्पुरुषों के अनुसार चलते हैं और तुम्हारे साथ भाईपने का निर्वाह करते हैं और अपने बड़े भाई को मानते हैं धर्मात्मा है सहृदय है और जितेंद्रिय किंतु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यम इति नहीं मती ही किन्तु मनुष्य का चित्त जो है वो अनित्य होता है ऐसी मेरी राय है दिन भर में सोलह बार नाराज मन में आवे और जाए मन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है तो इसीलिए सत्पुरुष लोग निश्चय के अनुसार काम करते हैं मन में जो काम आ जाए मन आ जा जाए तो वही नहीं करते हैं सताम तु धर्म नित्या नाम द्रुत शोभित राघव जो महापुरुष हैं धर्म प्रेमी वे लोग पहले जब कर लेते हैं तब अपने चित्त से संतुष्ट होते हैं उनका चित्त काम करने से पहले खुश नहीं हो जाता काम करने के बाद खुश होता है सो रामचंद्र ने सुन लिया और इसके बाद दशरथ जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी वो अपने घर चले गए और वहाँ जाते तुरंत माता कौशल्या के पास गए वो तो रेशमी वस्त्र धारण करके और मौन होकर के देवता के मंदिर में पूजा कर रहे थे सुमित्रा वहाँ पहले आ गई थी सीता जी पहले लाई गई थी और राम के अभिषेक का समय है उस समय तो कौशल्या जी ध्यान में भगवान के मग्न हो रही हैं सुमित्रा जी उनकी सेवा कर रही हैं सो रामचंद्र आए रामचंद्र ने कहा कि माता हमारे पिता ने प्रजा पालन के धर्म में हमको नियुक्त किया है और कल सवेरे मेरा अभिषेक भोग होगा सो आज सीता के साथ मुझे उपवास करना है और उन्हीं के साथ कुशासन पर सहन करना है हमको वशिष्ठ जी ने भी ऐसा कहा है और पिताजी ने भी ऐसा कहा है सो माता जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कल होने वाले अभिषेक के लिए जो जो जो जो योग्य होवे सो तो सब मंगल आज आप कर दो और सीता को भी सिखा दो कि वो भी मंगल करें कौशल्या के मन में तो ये बात पहले से ही थी कि राम राजा बने उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले बेटा राम तुम्हारी आयु लंबी हो हताश से परिपंथ तुम्हारे दुश्मनों का नाश हुआ तुम्हारे दुश्मन मारे गए और हमको सुमित्रा को तुम ज्ञाति इनमें कौमश्रिया सुमित्रा आश्चर्य नंदय मेरे और सुमित्रा के जो सगे संबंधी हैं उनको तुम आनंद करो तुम बड़े उत्तम नक्षत्र में पैदा हुए हो कि तुमने अपने गुणों से अपने पिता को प्रसन्न कर लिया अमोघम बतमे क्षांतम पुरुषे पुष्करे क्षण जेय विच्छातुराज्य स्त्री पुत्रत्वान तो भगवान के प्रति पुरुष नारायण के संबंध में मैंने व्रत उपवास आदि के द्वारा बहुत बड़ी पूजा की है कि आज तुम्हें ये राज्य मिल रहा है तो इस तरह माता से बात बीत करके लक्ष्मण से बोले रामचंद्र कि लक्ष्मण जी अब तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो तुम मेरे दूसरे अंतरात्मा हो ये लक्ष्मी मेरे पास नहीं तुम्हारे पास आई है तुम मेरे अंतरात्मा हो द्वितीय में अंतरात्मान स्वामीयम श्री पिता ये लक्ष्मी तुम्हारी सेवा करने के लिए आई है भरत शत्रुघ्न तो अयोध्या में है नहीं और राम लक्ष्मण एकांत में ऐसी बात कर रहे हैं तो तुम भोग भोगो और जो जो तुम्हें चाहिए सो ले लो इसके बाद लक्ष्मण से कह के और सीता से भी कह के रामचंद्र राजमहल में चले गए अब इधर वशिष्ठ जी को राजा ने बुलाया और बोले कि देखो रामचंद्र को कर्मकृत करना है अभिषेक के लिए तो जा करके उसमें पूजा मंत्र संकल्प आदि बोलना पड़ता है ये धर्म के फल की प्राप्ति के लिए भी शास्त्र के अनुसार काम करना पड़ता है क्योंकि जो धर्म का फल है वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से देखने में आता नहीं शास्त्र में ही लिखा है कि ये धर्म करने से ये फल प्राप्त होता है तो शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जो शास्त्रोक्त धर्म किया जाता है वो यदि शास्त्रोक्त रीति से नहीं हो गए तो वो फलप्रद नहीं होता मनमाने ढंग से धर्म नहीं किया जाता है शास्त्रोक्त ढंग से ही धर्म किया जाता है शास्त्रोक्त फल शास्त्रोक्त रीति से मिलेगा इसलिए धर्म भी शास्त्रोक्त होना चाहिए और शास्त्रोक्त धर्म जो है वो शास्त्रोक्त विधि से ही संपन्न होता है इसलिए शास्त्रोक्त विधि करनी चाहिए तो तुम जा करके वशिष्ठ जी श्री यश और राज्य की प्राप्ति के लिए सीता सहित रामचंद्र से उपवास कराओ आज सो वशिष्ठ जी उनकी आज्ञा सुन करके राम के महल में गए उनसे उपवास करने के लिए जो राम भवन में वशिष्ठ जी का रथ पहुंचा बिना रोक टोक वो किसी प्रकार की रोक टोक वशिष्ठ जी के रथ के लिए नहीं थी उसको छठ रामचंद्र भगवान आ गए और उन्होंने वशिष्ठ जी को से संभाषण किया उनको प्रसन्न किया और हाथ पकड़ करके और उनको ले गए अब पुरोहित वशिष्ठ जी बोले कि राम तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं और कल प्रातः काल तुम्हारा अभिषेक करने वाले हैं सो तुम उपवास करो आज और व्रत धारण करो फिर उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके राम और सीता दोनों को व्रत व्रत उपवास में दीक्षित किया और उसके बाद चले आए और रामचंद्र अपने महल में बैठ करके महाराज चारों और आनंद जहाँ देखो वहाँ आनंद सारी अयोध्या जो है वो सजाई जाने लगी रामचंद्र का महल भी राजा दशरथ के महल के समान ही था सो तो वशिष्ठ जी जब वहाँ से निकले तो क्या देखते हैं कि वृंद वृंद अयोध्यायाम राजमार्गा बहुत बभूभुरभिसंबाधा कुतूहल जनैर्वृता मार्ग में जय हो जय हो के नारे लग रहे हैं और झुंड हो झुंड हो लोग जो है झुंड के झुंड जो लोग हैं कब वो राजमार्ग पर खड़े हैं चारों ओर और ऐसी भीड़ हो गई है कि वशिष्ठ जी वहाँ से निकल नहीं सकते जन वृंदोर विसंघर्ष हर तत्व सदा खूब आवाज हो रही और खूब चारों ओर खूब आनंद से अयोध्या जी तो वनमालिनी हो गई है और उसमें बड़े बड़े झंडे और पताके सब बेसाक लगाए हुए हैं और बड़े बड़े महल सजाए हुए हैं चारों तरफ बड़ा आनंद बन रहा है इस प्रकार वशिष्ठ जी तो वहाँ से राम महल से चले आए और रामचंद्र ने अपनी विशालाक्षी पत्नी सीता के साथ नारायण उपागमत नारायण की शरण ग्रहण की प्रगृज सिरसा पात्र हविशो विधिवत्तना उन्होंने महान देवता के लिए तो होम किया रामचंद्र ने नारायण देव का ध्यान किया सहपत नारायणम उपागमत ध्यान नारायणम देवम तीर्ण कुश संस्तरे मौन हो गए मन को अपने भक्त में किया और उस दिन भगवान के मंदिर में उन्होंने शयन किया श्रीमद्यायतने विश्लो हो शिष्य नरवरात्मजा उस दिन मंदिर में शयन किया और जब थोड़ी सी रात एक पहर रात बाकी रह गई थी तब उन्होंने घर को महल को अच्छी तरह सजवाया सूत मंगत मगध बंदी जो हैं ये उत्तम बातचीत कर रहे और सब लोग जो हैं वो संध्या वंदन के लिए तैयार हैं अयोध्या में संध्या वंदन सब लोग करते थे हो और सब लोग प्रणाम और स्तुति करते थे मधुसूदन की तुष्टा व प्रणतश्चव सिरता मधुसूदनम श्री रामचंद्र भगवान प्रणत हो करके और सिर से सिर से झुका सिर झुका करके मधुसूदन भगवान को प्रणाम करते थे और रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे ब्राह्मण लोग पूर्णिया वाचन कर रहे थे पूर्णियाम पूर्णियाम पूर्णियाम अयोध्या जो है वो बाजे गाजे से भर रही थी अब अयोध्या वासियों को एक ही को मालूम पड़ गया कि प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होगा तो सब लोग पुरी को ऐसा सजाने लगे चतुष्पथ जितने चौराहे थे जितनी रथ रथ चलने के जो मार्ग थे मनुष्यों के चलने के जो मार्ग थे राजाओं के चलने के जो मार्ग थे और जो बाजार थे नाना पढ़ने समृद्ध और जहाँ व्यापारी लोगों की दुकानें लगा करती थी और जहाँ गृहस्थों के गृहस्थों के कुटुम्बियों के रहने के लिए जो मार्ग थे सभा में जो सभा स्थल थे सब और जो जगह जगह बगीचे लगाए हुए थे सब जगह झंडे लगा दिए गए और सबके आनंद से महाराज बस आपस में लोग राम के अभिषेक की कथा करें सारा मार्ग सारा नगर अलंकार से भरा हुआ है लोग इकट्ठे होकर के कहें कि ये राजा जो है दशरथ ये बड़ा महात्मा है अहो महात्मा राजायम इक्ष्वाकुल ज्ञावा जो वृद्धमात्मान रामम राज्य विशेक्षते बड़े बड़े बड़े बड़े राजा तो ऐसे होते हैं महाराज की बुढ़े हो जाए मर जाए लेकिन अपने हाथ से राज्याधिकार दूसरे को नहीं देते हैं ये तो महात्मा है राजा दशरथ जो अपने को वृद्ध देख करके राम को युवराज बना रहा है बड़ी कृपा की इसने हमारे ऊपर कि अब रामचंद्र हमारी रक्षा करेंगे रामचंद्र के मन में उद्धत पना बिल्कुल नहीं है अनुद्धत मना विद्वान धर्मात्मा भ्रातृवत्सला विद्वान भगवान है धर्मात्मा है भाई से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से जैसा प्रेम करते हैं वैसे ही हमसे भी प्रेम करते हैं यथा जो चौभ्रात्र सुस्निग्धा तथा स्मा स्वपी राघवा राजा दशरथ की आयु लंबी हो इनकी कृपा से हम राम को आज राजा के रूप में देखेंगे अब तो महाराज ये बात फैल गई नाना दिशा विदिशा से घोड़े पर हाथी पर रथ पर बैठ करके देहात के लोग दूसरे नगरों के लोग आने लगे और सरापुरी लोगों से भर गई और वहाँ तो गोलाहल मच गया इस तरह अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो गई भगवान के राम राज्य के राम राज्य के अभिषेक के लिए अब उधर देवता लोगों ने एक दूसरी रचना रच दी वो तो क्या रचना रची तो उनके मन में ये था कि राम अयोध्या के राजा होकर के यहाँ अभी न रहे पहले रावण का वध करें इसलिए देवताओं ने मंथरा के मन में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया ये मंथरा जो है उसने भगवान राम के राज्य में विघ्न डाला ये जन्म से ही दासी थी माने दासी वंश में ही ये पैदा हुई थी और गैकई के साथ ये मायके से आई थी और वो जो है वही मंथरा महल के ऊंचे हिस्से पर चढ़ गई और वहाँ से उसने पुरी को देखा कि आज तो पुरी में कैसी सजावट हुई है आ, हाँ, कोई महाराज हाथ में माला और मोदक लेकर जा रहा है और कोई बाजे बजा रहा है और कहीं पुरी का श्रृंगार हो रहा है कहीं जय जय की ध्वनि हो रही है अयोध्या को इस तरह सजी सजाई देख करके मंथरा को बड़ा विस्मय हुआ वो छज्जे पर चढ़ के देख रही थी देखा कि सारे के सारे के सारे नगर के लोग बड़े खुश हैं तो उसने भाई से पूछा कि धात्री पप्रच अभिदूरे स्थिताम दृष्टवा धात्री पप्रच मंथरा मंथरा ने पूछा क्यों जी आज ये क्या बात है नगर में ये राम माता कौशल्या के दरवाजे पर लेने वाले लोग बहुत आते हैं और वे सबको धन बांट रहे हैं तो ये बात क्या है इतना बड़ा आनंद आज क्या हो गया हमको भी तो बताओ सो तो आनंद के कारण भाई का तो दिल फटा जा रहा था उससे बोला नहीं जाए उसने बताया कि राम को किस तरह से जुबराज बनाया जा रहा है अब तो डुबजा गुबजा जो है वो तो छठ सुनते ही चिड़ गई बिचारी जल मरी और क्रोध से जलती हुई वो पहुंची कैकेयी के पास के जी जो है वो अभी शयन कर रही थी सया नामे आ करके आ करके मंथरा ने ऐसी वाणी में कई कई को डांटा जैसे कोई बड़ा बूढ़ा डांटता हो उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम स्वाम अभिवर्तते उपप्लुतम मघे नौ किमात्मान न बुद्धते अरे मूर्खे उठ उठ तेरे ऊपर बड़ा भारी भय आ गया है और तू सो रही है सारे तेरे पाप अब जग गए हैं और तुमको दुख देने के लिए आए हैं सो तो देखो भारत को तो इन्होंने अब बड़ा अनिष्ट तेरा होने वाला है देखने में तेरी सकल सूरत बहुत अच्छी है और राजा तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए सौभाग्य का घमंड करती हो अब तुम्हारे सौभाग्य के बह जाने का समय आ गया है नदी में बह, बह जाएगा अब तो कई ने सुना ये तो बड़ी कड़वी बात बोल रही है ये कुबड़ी पाप दर्शनी है लोगों के गुण में दोष देखने वाली सो कह गई ने कहा कि मंत्रा आज बात क्या हो गई तू इतनी नाराज क्यों है कह गई ने कहा मीठे मीठे शब्द में कहा अब तो मंथरा बड़े बड़ा क्रोध में भर करके फिर बोली और जिससे कैकेयी का मन बिगड़ जाए और उनके सुखी मन में दुख आ जाए बोले देवी जी आपके ऊपर तुम्हारा आपका विनाश करने के लिए कोई बड़ा भारी जोग आ गया है राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं मैं तो भय और दुख में डूब गई हूँ तुम्हारे दुख का ही मुझे दुख है मेरा क्या रखा हुआ है तुम एक उत्तम राजवंश में पैदा हुए हुई हो और राजा की महारानी रही हो और तुमको ये बात अभी तक मालूम नहीं पड़ी कि राजा लोगों का जो धर्म कर्म है वो कितना उग्र होता है वो बड़े भयंकर आचरण करने वाले होते हैं ये तुम्हारे जो पतिदेव हैं ये नाम मुंह पर जीत पर तो जब देखो जब धर्म धर्म धर्म की बात करते हैं धर्मवादी लेकिन भीतर से बड़े सठ हैं और प्रिय भाषी तो है परंतु दिल इनका दारुण है इसी से तुम इनके साथ जुड़ गई हो ये झूठी तुम्हारे पास आ करके झूठी झूठी बातें करते हैं आज तो वो सारा मंगल सारा कुशल सारा प्रयोजन कौशल्या को ही पूरा करने वाले हैं और देखो कैसा मन है राजा का दुष्टात्मा कि वो भरत को तो उन्होंने भेज दिया उनके ननिहाल में उनके मामा के घर में अब इस समय कोई दूसरा है नहीं तो राम को राजा बना रहे हैं इन्होंने देखो तुमको बिल्कुल धोखा दिया है जैसे कोई सांप या शत्रु करे ऐसा काम दशरथ ने तुम्हारे साथ किया है तो तुम तुम तो चांदनी के समान शुद्ध हो तुम्हारा हृदय बड़ा शुद्ध है तुम तो किसी की बात को समझती नहीं हो अब तो लेटे से उठ के बैठ गई कहके जी और उनका मुंह खुशी से भर गया आनंद से भर गया जैसे पूर्णिमा की चांदनी हो और ही आश्चर्य से भर के एक आभूषण ही ने उतारा अपने शरीर पर से और गुब्जा को दे दिया और फिर बोली कि मंत्रा तुमने तो मेरे लिए बड़ी प्रिय खबर बड़ा प्रिय संवाद ला करके दिया है और मैं तुमको क्या दू रामे बा भरते बाहम विशेषम लोपलक्ष तस्मात दुष्टास्मि यद राजा रामम राज्यभिषेक्ष्यति कैकेयी ने कहा कि हमको तो राम और भरत में कोई अंतर कोई विशेष कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता इसलिए मंथरा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ कि राजा राम को राज्य दे रहे हैं इससे बढ़कर मेरे लिए कोई प्रिय वस्तु हो नहीं सकती और जो कुछ तुम मांगो वो मैं तुमको देती हूँ मंत्रा ने टेढ़ी नजर से कैके की ओर देखा और वो दिया हुआ जो आभूषण था उसको फेंक दिया और क्रोध में भर कर बोली कि तुम्हारा ये जो हर्ष है देवी जी ये बिल्कुल अनुचित है क्योंकि तुम मूर्ख हो तुम देखती नहीं हो कि तुम शोक के समुद्र में डूब रही हो मुझे तो तुम्हारी अकल पर बुद्धि पर हंसी आती है तुम तो दुर्मति हो तुम्हारी समझ बिल्कुल उल्टी है सौत के बेटे की इतनी वृद्धि देख करके तुमको खुशी हो रही है और अब तो असल में राम को अगर राज्य मिलने में कोई बाधा थी तो केवल भरत की ही बाधा थी रामचंद्र ने भी एक स्थान पर ऐसा कहा है कि हमारे पिताजी ने हमारे पिताजी ने कैके से विवाह ही शर्त पर किया था ये हमने बचपन में सुना है कि राजा अश्वपति से उन्होंने कैके देश के राजा से ये प्रतिज्ञा करके कि जो कैके का बेटा होगा उसको हम राजा बनावेंगे सो तो देवी जी तुमको तो कुछ ध्यान नहीं है अगर राम को राजा होने में कोई बाधा थी तो भरत की बाधा थी तो भरत को तो उन्होंने भेज दिया और अब दे रहे हैं राज्य लक्ष्मण तो राम के साथी हैं और शत्रुघ्न भरत के साथ चले गए हैं इसलिए इसमें हानि यदि किसी की हो रही है तो भरत के हिस्से की ही हानि हो रही है मैं तो डर से बिल्कुल व्याकुल हो रही हूँ कि अब क्या होगा तुमको मालूम है जब राम राजा हो जाएंगे तो कौशल्या महारानी की तरह रहेंगी और कैकेयी जी तुम दासी की तरह रहोगे और तुम्हारा पुत्र जो है भरत वो भी एक नौकर की तरह रहेगा और तुम्हारी पुत्र पुत्र बधुए और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके बेटा होगा नाती होगा पोता होगा वो सब के सब गुलाम पंथ में चले जाएंगे और भारत को हजारों वर्ष के बाद भी राम का राज्य नहीं मिल सकता तो इस तरह से उसने कहा अब कई कई राम के गुणों की प्रशंसा करने लगी मंथरा रामचंद्र धर्मज्ञ हैं और गुरुओं ने उनको मनमानी शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की है गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त हुई है बड़े कृतज्ञ सच्चे पवित्र आत्मा है और राजा के बड़े पुत्र भी हैं इसलिए राजा होने के योग्य वही हैं और वो अपने भाइयों को और सेवकों को ठीक जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करे वैसे पालन करते हैं उपजा तो दुखी क्यों हो रही है और थोड़े दिनों तक राम राजा रह लेंगे तो उसके बाद फिर वो भरत को राजा बना देंगे वो तो भरत में और अपने में कोई फर्क मानते नहीं है ये तो कोई राज्य राज्य तो एक व्यक्ति का है नहीं तो उसी का काम आया पहले राम राजा हो लेंगे फिर भरत राजा हो लेंगे ऐसे कल्याण का अवसर प्राप्त होने पर राम हमेशा अकेले राजा थोड़े रहेंगे वो तो भरत को राजा जरूर बनावेंगे तो इसलिए भविष्य के कल्याण हमारे वंश का तो आगे के लिए मंगल हो रहा है तू क्यों परितुप्त परितप्त हो रही है जैसे भरत मेरे मान्य है वैसे रामचंद्र भी मेरा मेरे मान्य है यथा में भरतो मान्य तथा भूयो भी राघव कौशल्या अतिरिक्त संचो सोन शुश्रूषते इमाम मंत्रा तुमको क्या नहीं मालूम है कि कौशल्या की जितनी सेवा करते हैं राम उससे ज्यादा सेवा मेरी करते हैं यदि राम का राज्य होता है तो भरत का भी राज्य होता है क्योंकि भरत और राम तो दोनों एक ही हैं राम जैसा अपने को मानते हैं वैसा भरत को मानते हैं अब तो मंथरा और दुखी हो गई और लंबी सांस चलने लगी और बोली कि तुम अनर्थ दर्शनी हो मूर्ख हो और शोक को तुम सुख समझ रही हो अच्छा ये बताओ कि रामचंद्र का जो बेटा होगा वो राजा होगा कि नहीं होगा जब राम राजा होंगे तो रामचंद्र का बेटा भी राजा होगा क्या अच्छा तुम कहते हो कि फिर भरत राजा हो जाएंगे राम के बाद तो क्या एक राजा के कई बेटे होते हैं तो सब के सब राजा होते हैं मूर्खता की बात क्यों करती हो रा, रा, और सब तो उसके सेवक होते हैं राजा तो बिल्कुल एक ही होता है इसलिए जहाँ राम के हाथ में राज्य गया तुम्हारी सौत की उन्नति हो जाएगी और जैसे हम लोग दासी की तरह रहती हैं वैसे तुमको दासी की तरह रहना पड़ेगा और तुम्हारे भरत को भी दास की तरह रहना पड़ेगा शत्रुघ्न की भी वही दशा होगी तो नारायण अब हम लोगों को चाहिए इस बात को बचावे इस बात को इसलिए लक्ष्मण का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन भरत का अनिष्ट जरूर होगा तस्मान लक्ष्मणे राम पापम किंचित कर रामस्तु भरते पापम ऊर्जा स्थिति न संशय राम भरत को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम खबर भेज दो अपने मायके में कि वहीं से भरत भी वन में चले जाएं अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है यदि अयोध्या में होंगे तो उनको बहुत हानि पहुंचेगी और तुम्हारे जाति बंधुओं की भी का कल्याण इसी में है जो तुम्हारे साथ में तुम्हारे सेवक है दादी दास है और वो महाराज अपनी आंख से अपना सत्यानाश कैसे देखेंगे तो सब के सब जंगल में चले अब यहाँ अयोध्या में रहने की आवश्यकता नहीं है राजमाता तुम्हारी सौ राम माता तुम्हारी सौत कौशल्या जब राजा की माँ हो जाएगी तो हम लोगों के के साथ बैर क्यों नहीं साधेगी तुम बिल्कुल पराभूत हो जाओगी इस तरह से उसने समझाया अब तो कई कई को भी चिंता हो गई और उसके मुंह उसका मुंह लाल लाल हो गया और सांस जो है वो लंबी चलने लगी बोली की देख मंथरा आज ही मैं राम को जुबराज बनने की जगह वन में भेज देती हूँ और भरत को जल्दी से जल्दी मैं जुबराज बनाऊंगी देखती हूँ कि इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए तो मंथरा ने ही बताया कि पहले जब सुर के साथ युद्ध करने के लिए गए थे दशरथ जी तो उस समय जो बात हुई थी वो तुमको भूल गई क्या अथवा याद है तब भी तुम छिपा रही हो क्या मेरे ही मुंह से सब कहलाना चाहती हो कैसे ही ने कहा कि नहीं तू जरूर बता ऐसा क्या उपाय है कि राम बन में जाए और भरत जो है वो राजा बने तो बोले ने कहा कि जब को संग्राम हो रहा था तब राजन के साथ तुम्हारे बलदेव युद्ध करने के लिए गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए यत्र नामक नगरी में संबरासुर नामक राजा रहता था और इंद्र के साथ उनका युद्ध हो रहा था उस संग्राम में वो लोगों को बहुत मारता था राजा दशरथ ने उनके साथ युद्ध किया उस समय उस समय असुर ने दशरथ को बड़ा दुख पहुंचाया तो तुमने उस बेहोश हो गए दशरथ सो दुख से उनकी रक्षा कर ले वो तो अस्त्र शस्त्र से नष्ट प्रश्न हो गए थे तो उसी समय राजा दशरथ ने तुमको दो बर दिए थे सो देवी तुमने कहा था कि मैं अभी को वर नहीं लूंगी बाद में बर लूंगी अनभिज्ञा हम देवी तो वह कथिता पूरा मुझे तो मालूम नहीं था कैसे तुमने ही तो ये बात हमको महारानी ही बताया कि राजा ने हमको दो बर दिए तो मैंने कह दिया हम अभी नहीं लेंगे बाद में लेंगे तो एक बर से तुम रामाभिषेक की जो सामग्री है उनको बलात् रोक दो और रामचंद्र को वनवासी बना दो चौदह बरस के लिए चौदह बरस इसलिए कि जब चौदह बरस राम राज्य से दूर रहेंगे तो चौदह वर्ष में प्रजा का स्नेह भरत के प्रति स्थिर हो जाएगा तो अभी तुम गोप भवन में जाओ और वहाँ जा करके मैला वस्त्र धारण करके और आभूषण सब फेंक करके और वहाँ पड़ जाओ और दूसरे वर्ष से भरत को एक वर्ष से भरत को राजा और दूसरे वर्ष से रामचंद्र को बनवास ये तुम मान लो हम जानते हैं कि राजा जो है वो कामी है और वो तुमको नाराज नहीं करेगा और वो तुम्हारे लिए प्राण भी छोड़ देगा और तुम्हारा अतिक्रमण नहीं करेगा एक बात है कि राजा बहुत सी चीजें तुमको देना चाहेगा परंतु तुम लेना नहीं जब वो शपथ कर ले तब उसको तुम बताना और उन दोनों बरों की याद दिलाना रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पंच च भरत प्रियताम राजा पृथिव्या पार्थिव राम वन में जाए और भरत राजा हुए इस तरह से तुम्हारे पुत्र का और तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा और एवं प्रव्राजित रामो अरामो भविष्य तब राम राम नहीं रहेंगे राम आराम हो जाएंगे सो तो इस तरह से उसने अनर्थ को अर्थ के रूप में ग्रहण करा दिया अब तो कैकेयी बहुत प्रसन्न और मंथरा से बोली कई तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई और बोली कि देखो ये मंथरा जो है ये कितनी बुद्धिमती है अरे वो कुबड़ी हाँ, मैं नहीं पहचानती थी तुमको कि तुम इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठा श्रेष्ठाभिधायिनी हो ऐसी अच्छी सलाह देती हो तुम और इतनी अच्छी हो तुम असल में हम तो अब तुम्हें दुनिया में जितनी गुबड़ी हैं उनके महारानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक करते हैं पृथ्वी अधिक उपजाना उत्तमा बुद्ध निश्चय और मेरी भलाई में तो तुम हमेशा लगी रहती हो हमको राजा के मन का पता नहीं था देखो ना लोग मन में क्या रखते हैं और ऊपर ऊपर से क्या करते हैं सो ये जो तुम्हारा बक्षक स्थल जो है उबड़ी होने के कारण नीचे को दबा हुआ है और कंधे की ओर जो ऊंचाई है वो अवश्य ये तो जैसे कमल पहुँचा गया हो इस प्रकार शरमाए हुए कमल के समान है जब आदमी का किसी से राग होता है तब उसमें गुण बुद्धि हो जाती है हो उसकी बुराई भी अच्छाई लगने लगती है देखो तो तुम्हारी जान कैसी भरी भरी है और तुम्हारे बक्षक फल कितने बड़े बड़े हैं और मुख तुम्हारा कैसा चंद्रमा के समान है अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो ये कमर पर तुम्हारे कर्दनी कैसे शोभा पाती है और सब महाराज एक एक अंग का वर्णन करे कि तुम्हारा तो उपजा असल में तो तुम बहुत सुंदर हो जब मनुष्य का किसी के प्रति अनुकूल मन होता है तब उसमें सुंदरता दिखने लगती है देखो ये माला तुमको सोने की मैं अभी देती हूँ और जब भरत का अभिषेक हो जाएगा और रामचंद्र वन में जाएंगे तो बहुत बढ़िया सोना से तपाए हुए सोना से तुम्हारा मैं आभूषण बनवा दूंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मुख पर तिलक चित्र बिंदी सोने की बिंदी बना करके लगाऊंगी और शुभ आभरण दूंगी और अच्छे वस्त्र धारण करा के देवता की तरह रखूंगी तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान शोभायमान होगा और देखो कितनी बड़ी है दुनिया की सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगी तवा कुब्जा कुब्जाया सर्वाभरण भूषिता और सब आभूषण धारण करके दासियां जो हैं वो तुम्हारे पांव दबाया करेंगी <laughs> तो नारायण अब तो मंत्रा ने कहा कि देवी जी सज्जा पर सोते सोते कोई काम नहीं बनता है आपको अपना पलन तो छोड़ती नहीं है और बात सारी की सारी करते हैं उठो और जो काम हमने कहा है वही करो और उसके उत्साहित होने पर उन्होंने अपने बस्ता भरण को फेंक दिए और जा करके कोप भवन में बैठ गई और पूजा से उन्होंने कहा कि अरे पूजा अब तू मुझे या तो मरा हुआ देखेगी कि मैं मर गई हूँ अथवा ये देखेगी कि भरत राजा हो गए हैं हमको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए हमको तो केवल भरत का राज्य चाहिए और राम का वनगमन चाहिए इसके सिवाय मैं और कुछ लेने वाली नहीं हूँ उसने सिखाया मंथरा ने देखो महारानी जब तक राम की शपथ न खाए राजा तब तक तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करना नहीं तो वो कह करके भी बदल जाएंगे अब तो महाराज जाके कई केस जो है वो धरती पर सो गई और नारायण जैसे कोई किन्नरी स्वर्ग से गिर गई हो और आपने क्या क्या करना है इसकी सब उन्होंने सूचना बना ली अब मंथरा की बातों में आ गई लंबी सांस चलने लगी कैसे कैसे घर में भी नहीं है राजा ने पूछा हाँ, कि महारानी कहाँ है तो दिखा दिया दासियों ने कि महाराज वो हैं अब वहाँ जा करके उन्होंने देखा पृथ्वी पर गिरी पड़ी पड़ी है सवृद्धत तरुणी भार्याम पुराने धोपी गरी यसीम ये बुढ़े लोग होते हैं तो उनकी पत्नी जवान हो तो बहुत प्रेम करते हैं सवृद्धा तरुणी भार्याम प्राणी धोपी गरी यसीम तब वो भोग से पत्नी को संतुष्ट नहीं रख सकते इसलिए प्रेम से पत्नी को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं प्राणों से भी ज्यादा प्रेम दशरथ के मन में तो कोई पाप नहीं और कैसे के मन में पाप भरा हुआ जैसे कोई लता काट के गिरा दी गई हो जैसे किन्नरी स्वर्ग से गिर गई हो जैसे कोई माया जो है कब वो वहाँ आ करके आई हो जैसे कोई नहीं हो इस तरह से उन्होंने देखा और जा करके उन्होंने कहा कि देवी ये इस रूप में तो मैंने कभी तुमको देखा नहीं था पहचानते ही नहीं हूँ न ते हम अभिजानामी क्रोधम आत्मनि संस्कृतम मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा था जिसने तुमको कुछ गाली कुछ गाली बात कह दी है तुम भूल में क्यों लेट रही हो क्या तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत का आवेश हो गया हो गया हो हमारे पास तो बड़े बड़े जानकार हैं बैठे हैं हो जाए तो अभी मैं तुम्हें बुलवाता हूँ और तुमको स्वस्थ करता हूँ यदि किसी को कुछ देना हो तो जो कहो सो दे दें यदि किसी का अनिष्ट करना हो तो कहो उसका अनिष्ट कर दें आज तुम्हारा प्रिय व्यक्ति जो है सबसे बड़ा प्रिय प्राप्त करे रो मत अपने को सुखाओ मत जिसको कहो उसको मैं मार डालू जिसको कहो उसकी रक्षा करूं जिसको कहो गरीब बना दूं जिसको कहो धनी बना दूं हमारे जितने हैं वो सब तुम्हारे बस में है मैं अपने शरीर से जीवन से जो जो तुम चाहती हो देवी वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ सो so, जहाँ तक ये चक्र हमारा राज्य शासन है हमारी पृथ्वी है जहाँ तक जिसमें प्राचीन पूर्व के सारे देश सिंधु और पश्चिम के सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण के देश बंग अंग मगध मध्य काशी कोसल ये सब जितने देश हैं इनमें से चाहे तुम जो कहो जो देश हम सबको दे सकते हैं क्योंकि हम सबके स्वामी हैं कैसे जी तुम आज दुखी कैसे हो अब कैसे देखा कि ये कामी राजा जो है वो तो बिल्कुल हमारे बस में है तो उन्होंने बड़ी कड़वी बात कही बोली कि देखो जी हमको किसी ने कड़वी बात नहीं कही है हमारा अपमान नहीं किया है हम किसी अभिप्राय से लेते हैं हम यहाँ दुखी हैं मेरी एक प्रतिज्ञा है उसको यदि तुम पूरी कर दो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं वो तुमसे कहूँगी राजा ने कहा मुस्करा करके राजा बोले उनको क्या मालूम कि इसके मन में इतना बड़ा जहर भरा हुआ है तो उन्होंने झट अपने हाथ से उसके सिर को संभाला और बाल सहलाने लगे और मुस्कराने लगे उसको करे तुमको मालूम नहीं है तुमसे बढ़ करके मेरा कोई और प्यारा नहीं है देवी स्त्रियों में तो तुमसे प्यारी कोई है ही नहीं पुरुषों में यदि कोई मेरा प्यारा है तो राम सबसे प्यारा है और स्त्रियों में तुम सबसे प्यारी हो मैं उसी अपने प्राण स्वरूप रामचंद्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो मेरे जीवन रूप हैं कि जो तुम्हारी मर्जी होगी वो मैं तुमको दूंगा मैं फिर से तुमसे कहता हूँ कि दो घड़ी जिनके दर्शन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता उस राम की सौगंध खाकर मैं तुमको कहता हूँ कि मैं अपना वचन पूरा करूँगा करूंगा और मैं अपने शरीर से भी बड़ा राम को मानता हूँ अपने सब पुत्रों से भी बड़ा राम को मानता हूँ वो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं लेकिन उन राम की सौगंध खा करके मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे जो प्रतिज्ञा करता हूँ वो पूरी करूँगा ये तीन श्लोक हैं और तीनों में सफे सफे है मैं सौगंध खा रहा हूँ सफे से आ रहे जन मन से क्षति देव रामेण ही सपे से वचन क्रिया तेन रामेण कैके ये कपे ते वचन क्रिया ऐसे करके तीन बार सौगंध राजा दशरथ ने खाई और ये हृदय जो है इसको तुम फाड़ करके देख लो देवी इसमें तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं है मेरे ऊपर शंका मत करो मैं अपने सारे पुण्य सारे दान सारा जीवन तुमको दे करके और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार हूँ अब ये बात सुन करके कई देवी ने कहा कि आप महाराज सौगंध को खाते हैं और मुझे वर भी देते हैं ये बात मैंने तो सुन ली लेकिन सिर्फ मैं ही सुनू कोई गवाह न रहे कि ये बात नहीं बनती है इसलिए चिल्ला के जोर से कह के ही बोली तत्णवंतु त्रिशत देवा साग्नि पुरोगमा तैतीसों देवता दशरथ की प्रतिज्ञा को सुन लें अग्नि देवता सुन लें चंद्रमा और सूर्य सुन लें आकाश ग्रह रात दिन दिशा जगत पृथ्वी गंधर्व राक्षस निशाचर भूत गृह देवता और भी संसार में जितनी जितने प्राणी हैं वे दशरथ की प्रतिज्ञा को सुन ले वे आज हमारे सामने सत्य महा महातेजस्वी धर्मज्ञ सुसमाहित महाराज हमको बार देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तन में श्रृणवंतु देवता देवता लोग उसको सुने तो इसके बाद उसने दशरथ जी के शरीर को पकड़ लिया और उनकी प्रशंसा भी की और देखा कि ये तो काम से मोहित हो गए हैं तो उनसे बोली स्मर राजन पुरावृत्तम राजा याद करो पहले देवता और असुरों के संग्राम में तुम्हारे शत्रु ने तुमको गिरा दिया था रणभूमि में और बस तुम जीवित थे और कुछ नहीं था उस समय मैंने तुम्हारी रक्षा की थी जाग जाग करके रक्षा की थी प्रयत्न कर करके रक्षा की थी सो नारायण तुमने मुझे उस समय दो बार दिए थे और उनको मैंने तुम्हारे पास रख दिया था छोड़ दिया था अब मैं वही दोनों बार चाहती हूँ तो आप दे दीजिए और यदि प्रतिज्ञा करके भी शपथ खा करके भी तुम वो वरदान नहीं दे दे दे दोगे तो मैं आज ही अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी बांग मात्रेण सदा राजा इस तरह से महाराज राजा को उसने अपने बस में कर लिया जैसे कोई हरे स्वयं ही फंदे में जा करके फंस जाए ऐसे राजा दशरथ कैकेयी के फंदे में फंस गए देखा काम से मोहित है राजा असल में जो काम से मोहित होता है उसको उसी अनुचित का कुछ ख्याल नहीं होता है तो जो तुमने वर दिया था तो अब मैं उससे चाहता हूँ हमने सुना हमने सुना है कि तुमने रामचंद्र के अभिषेक का आयोजन किया है तो मेरा पहला बर है कि इसी अभिषेक की सामग्री से भारत का राज्याभिषेक होवे और दूसरा बर जो मैंने लिया था उसको लेने का अवसर अब ये आ गया है चौदह वर्ष तक रामचंद्र जा करके कारण में निवास करें और वो चीर वस्त्र धारण करें चीर अजिन चीराजिन जटाधारी सिर पर उनके जटा होए और मृग चर्म धारण करें और बलकल धारण करें और तपस्वी के बेस में रहें भारत जो है ये निष्कंटक राजा हो जाए यही मैं भर आपसे मांगती हूँ मैं आज ही देखना चाहती हूँ आज ही देखना चाहती हूँ कि रामचंद्र वन में जाए अध्यात्म रामायण में जो इसके संबंध में श्लोक है उसमें है वनम न गच्छेद यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन क्षीर युक्त उदबंधनम बा विषभक्षणम बा कृत्वा परिष्य हे दशरथ यदि रामचंद्र प्रातः काल होते ही मृग चर्म और बलकल वस्त्र धारण करके वन में नहीं जाएंगे तो मैं फांसी लगा करके या जहर खा करके तुम्हारे आगे ही मर जाऊंगी तुम्हारे सामने ही मरमट मिलूंगी अब तो महाराज इस तरह उसने राजा को वरदान से पहले और शपथ से बाद में और काम पास से उसने बांध लिया अब तो बड़ा भार बड़ी भारी चिंता दशरथ के मन में आई और बड़ा पश्चाताप हुआ फिर बोले कि ही तो ऐसी नहीं थी तो क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि ये क्या मेरे चित्त का कोई मोह है कि ये कोई भूत प्रेत आ गया है कि कोई मन का उपद्रव है अब तो राजा को संतोष ही न हो प्रतिलभ्य चिरा संज्ञाम कैके ही वाक्यताड़िता पहले तो बड़ी चोट लगी थी फिर थोड़े सावधान हुए और व्यतीत हो करके नारायण और वो लंबी सांस लेने लगे और अपने मन का जो धैर्य था वो मिट गया और बोले हाय हाय हमको धिक्कार है वो तो बेहोश हो जाए तो कभी होश में आवे कभी होश में आवे तो कभी बेहोश हो जाए फिर कैकेयी के ऊपर नाराज हो करके वो बोले अरे तू बड़ी क्रूर है तेरा चरित्र दुष्ट है तू इस कुल का विनाश करना चाहती है राम ने तुम्हारे साथ क्या ऐसा बुरा किया है कि उनको तुम उनके साथ जैसा अनिष्ट करना चाहती हो क्या मैंने कोई पाप किया है कि राम ने पाप किया है वो तो तुमको माँ से भी पढ़ करके मानते हैं उनका तुम अनिष्ट करना चाहते हो तुम मयात्म विनाशाय भवनम स्व प्रवेशिता मैंने अपने विनाश के लिए ही मानो तुम्हें अपने घर में ले आया था ये तुम तो साफिन हो और मैंने तुमको समझा नहीं सारी दुनिया राम के गुण गाती है और तुम राम से द्वेश करती हो मैं भला क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा और लोगों को क्या बोलूंगा कि राम ने क्या अपराध किया है जिसके कारण मैं अपने प्यारे पुत्र राम को छोड़ रहा हूँ मैं तुम कहो तो कौशल्या को छोड़ दूं आज के बाद उसको सुमित्रा को कहो तो छोड़ दूं कहो तो मैं राज्य संपदा छोड़ दूं आज से मैं राजा न रहूं कहो तो अपना शरीर छोड़ दूं लेकिन मैं राम को नहीं छोड़ सकता राम तो अपने पिता के बड़े प्रेमी और पितृवत्सल हैं मेरी सबसे बड़ी प्रीति राम से है और राम को न देख करके मैं होश में आऊंगा नहीं ये दुनिया बिना सूर्य के रह सकती है और बिना बिना जल के अन्न पैदा हो सकता है परंतु बिना राम के ये मेरा जीवन नहीं रह सकता है तो तुमने जो निश्चय किया है ये बड़ा पाप से भरा हुआ है अपने ही विरुद्ध तुमने ये निश्चय किया है मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों पर रख करके और तुम्हें मना रहा हूँ मान जाओ देवी ये तुमने क्या पाप की बात बोली है क्या तुम मेरी परीक्षा देना चाहते हो कि मैं भारत से कितना प्रेम करता हूँ सो so, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं परंतु भरत से भी मेरा उतना ही प्रेम है जो तुम मेरी परीक्षा ले के ये कहना चाहती हो तो तुम परीक्षा ले करके देख लो इक्श्वाकू के कुल में ये महान अन्याय हो जाएगा कि हम तुम्हारे कहने से और रामचंद्र को छोड़ देंगे सो तो हमको तो पहले विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि राम ने कभी तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा नहीं और तुमने भी कभी सारे जीवन में मेरे साथ कभी ऐसी क्रिया नहीं की कभी भी तुमने हमसे कोई अजुक्त बात या अप्रिय बात नहीं की और तुम्हारे लिए तो राम और भरत दोनों बराबर हैं ऐसा हमसे बार बार कहती रही हो सत्य धर्मात्मनो देवी बने बासम यशस्विन उनका वनवास तुम्हें कैसे रुचता है वो तो बड़े सुकुमार हैं धर्मात्मा हैं वो भयंकर वन में कैसे रहेंगे वे तो तुम्हारे सेवक हैं उनको तुम वन में क्यों भेज रही हो राम ही भरता शुश्रूषते सदा भरत तुम्हारी जितनी सेवा करते हैं उससे ज्यादा सेवा तो राम तुम्हारी करते हैं तुम तो भरत से भी पढ़ करके राम को मानती हो और तुम शुश्रूषा गौरव प्रमाण वचन राम से पढ़ करके तुमको कौन मिलेगा सो कभी भी रामचंद्र के जीवन में मैंने कोई कलंक नहीं सुना हाँ, हमारे घर में हजारों स्त्रियां रहती हैं और दास दासियां रहती हैं लेकिन किसी ने कोई परिवाद या अपवाद रामचंद्र के प्रति नहीं लगाया राम शुद्ध मन से सबको ग्रहण करते हैं तो हमने ये जो सुना है कि सत्य न लोकान जयती दीनान दाने न राघवा रामचंद्र ने त्रिलोकी पर जो विजय प्राप्त कर लिया है वो अपने सत्य से सत्य से और दान से लोगों पर विजय प्राप्त किया है उन्होंने सुश्रु सत्य न लोकान जयती दीनान दान राघवा सत्य के द्वारा राम ने लोगों पर विजय प्राप्त कर ली और दान के द्वारा राम ने दीनों पर विजय पर विजय प्राप्त कर ली और सेवा करके गुरुजनों पर विजय प्राप्त कर ली और धनुष से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली राम में सत्य दान तपस्या त्याग मित्रता शौच सरलता विद्या गुरु शुश्रूषा ये निश्चित रूप से रहते हैं ऐसे सरल सरल राम के प्रति तुम पाप की शंका करती हो कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेटी भरत को तकलीफ देंगे ये तो बिल्कुल गलत है कभी हमने राम के मुख से किसी के लिए अप्रिय वाणी नहीं सुनी है न स्मराम प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिन स्वकथम स्वत्वे राम वक्ष्यामी प्रियम अप्रियम जब राम के मुंह से कभी अप्रिय बात नहीं सुनने को मिली तो मैं तुम्हारे कहने से देवी राम को अपने प्यारे राम को ऐसी अप्रिय बात कैसे कहूँगा क्षमा जस्मिन तमन त्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अभ्यहिंसा के भूतानाम तमृते काग रामचंद्र में क्षमा है इंद्रिय दमन है त्याग है सत्य है धर्म है कृतज्ञता है अहिंसा है उनके बिना मैं मेरा जीवन नहीं है मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ और अंत को पहुँच गया हूँ और मैं तुम्हारे सामने दीन दीन विलाप कर रहा हूँ कई कई तुम हमारे ऊपर करुणा करो तुम्हें जो चाहिए सागर से गिरी हुई पृथ्वी में वो सब तुम ले लो मैं तुमको दूंगा लेकिन तुम क्रोध मत करो तुमसे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारा पांव छूता हूँ देखो राम की भी तुम रक्षा करो और मुझे अधर्मी मत बनाओ इस प्रकार महाराज दशरथ कई कई से प्रार्थना करने लगे अब आगे का